सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और उन्होंने नेक आमाल किए उन्हीं लोगों के लिए मगफिरत और बड़ा अज्र है